परमात्मा का स्मरण अनंत क्रियाओं से युक्त यज्ञ रूप परमात्मा प्रणव ध्वनि Oh. प्रेमी सज्जनों परमात्मा से प्रार्थनाओं के विभिन्न रूप होते हैं इसकी आवाज बढ़ो किस प्रकार की प्रार्थना हमें करनी चाहिए उसके विभिन्न रूप परमात्मा ने वेद मंत्रों में दिए हैं आज के मंत्र में भी एक प्रार्थना परमात्मा से की गई है ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सोलहवें सूक्त का नवा मंत्र है आर्याभिविनय में प्रथम प्रकाश का पैतीसवां मंत्र है मंत्र है सेमम न काम काममाप्रिण गोभिरश्वयी शतक्रतो स्तवाम त्वा स्वाध्य इस मंत्र का देवता इंद्र है मंत्र में उसको शतक्रतो ये संबोधन दिया गया शतक्रतु इंद्र का एक नाम है यहां इंद्र स्वयं परमात्मा परमेश्वर हैं उनको शतक क्रतु कहा जाता है क्योंकि वो बहुत से कर्मों को यज्ञों को करने वाले हैं शत शब्द अनेक अर्थ में और असंख्यात अर्थों में आता है इसलिए महर्षि दयानंद ने यहां पर संबोधन किया हे शतक्रतो हे शतक्रतु परमात्मा और इसको खोलते हुए लिखा अनंत क्रियेश्वर अनंत क्रियाओं के स्वामी अनंत क्रियाओं को अच्छी प्रकार से उत्तमता से करने वाले हे परमात्मा तो परमपिता परमात्मा को संबोधित किया हे शतक्रतो क्रतु का अर्थ यज्ञ भी होता है इसलिए महर्षि ने दूसरा संबोधन खोला अर्थ किया आप असंख्यात विज्ञानादि यज्ञों से प्राप्य हो तथा अनंत क्रिया युक्त हो परमात्मा स्वयं अनंत क्रतुओं को करता है अनंत यज्ञों को करता है क्रतु शब्द कर्म के नाम में भी पढ़ा है और यज्ञ के अर्थ में भी आता है भिन्न भिन्न प्रसंगों में दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं लेकिन दोनों में परस्पर संगति भी है वैदिक दृष्टि से देखें ईश्वरीय आदेश की दृष्टि से देखें तो परमात्मा के द्वारा बताए गए समस्त कर्म यज्ञ रूप ही होते हैं परमात्मा ने जो जो भी हमें करने का आदेश दिया है वो इस प्रकार का है कि वो यज्ञ रूप है उसमें श्रेष्ठों की पूजा होती है अच्छे लोगों से संगति होती है निकटता होती है और अच्छे कार्यों के लिए अन्यों को सहयोग किया जाता है दान दिया जाता है वेद विहित समस्त कर्म प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से यज्ञ के अंतर्गत आएंगे तो परमात्मा स्वयं जिन कर्मों को करता है वो समस्त कर्म यज्ञ रूप ही होते हैं दूसरों के हित के लिए होते हैं दूसरों के सम्मान के लिए होते हैं दूसरों को मिलाने के लिए संगठन के लिए होते हैं तो परमात्मा शतक क्रतु है अनंत कर्मों को करने वाला है और वो समस्त कर्म चूंकि यज्ञ स्वरूप है तो वो परमात्मा अनंत यज्ञों को करने वाला है इसके आधार पर लोक में ये कथा प्रचलित हुई कि इंद्र ने सौ यज्ञों को किया था इसलिए उसका नाम शतक क्रतु है कोई ऐसे महापुरुष हुए होंगे जिन्होंने सौ यज्ञों को किया हो लेकिन यहां इस मंत्र में परमात्मा को संबोधित किया शतक क्रतु और चूंकि परमात्मा शतक क्रतु है सतत क्रियाशील है और यजरूप कर्मों को करता है और ऐसे ही कर्मों का विधान उसने मनुष्यों के लिए किया है इससे एक निष्कर्ष निश्चित रूप से हम निकाल सकते हैं कि परमात्मा यज्ञ रूप कर्मों से ही प्राप्त होता है परमात्मा ने जिन जिन कर्मों का विधान किया है वो यज्ञ रूप है और परमात्मा ने जिन कर्मों का विधान किया है वो आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति के लिए किया है जीवात्मा उन कर्मों को करता हुआ उस विधि से कर्मों को करता हुआ अनंत सुख को पूर्ण सुख को आनंद को प्राप्त कर सके दुखों से निवृत्त हो सके परमात्मा का यही प्रयोजन है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्य भोग साधन परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं कर्मों का भोग भी होता है कर्म करने का अवसर भी होता है लेकिन इन सब की दिशा मुक्ति की तरफ बना के रखी है उसके विधान ऐसे हैं तो इससे ये एक निष्कर्ष निकलता है कि परमात्मा अनंत क्रियाओं से प्राप्त होने योग्य है अनंत यज्ञ रूप क्रियाओं से परमात्मा प्राप्त किया जाता है परमात्मा स्वयं ऐसा है इसलिए महर्षि दयानंद ने यहां पर शतक्रतो संबोधन को जब खोला तो क्या लिखा आप असंख्यात विज्ञान आदि यज्ञों से प्राप्य हो आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है शतक्रतु नाम परमात्मा का हम केवल उसकी प्रशंसा करके भी छोड़ सकते थे महर्षि केवल इतना लिख देते आप असंख्यात यज्ञों के कर्मों के करने वाले हैं लेकिन चूंकि परमात्मा का कोई भी उपदेश अंततः आत्मा के लिए होता है और आत्मा की मुक्ति प्राप्ति के लिए होता है इसलिए महर्षि शतक्रतों का अर्थ ही यही कर जाते हैं आप असंख्यात विज्ञान आदि यज्ञों से प्राप्त हो यज्ञ का स्वरूप बताते हुए जो महर्षि ने मुख्य बात लिखी विज्ञान आदि यज्ञों से एक ये भौतिक यज्ञ हम करते हैं और विभिन्न कर्म भी करते हैं परोपकार के रूप में <clears throat> वो भी यज्ञ होते हैं लेकिन उन यज्ञों में प्रथम यज्ञ या प्रमुख यज्ञ महर्षि ने लिखा विज्ञान विज्ञान भी एक यज्ञ है ज्ञान को बढ़ाना ज्ञान का उपयोग करना वो भी एक यज्ञ है अपने ज्ञान को बढ़ाना और दूसरों के ज्ञान को बढ़ाना दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी अविद्या को दूर करना और अन्यों की अविद्या को दूर करना ये यज्ञ है जिस समय हम यज्ञ शब्द को लेते हैं या कर्म शब्द को लेते हैं तो स्थूल कर्मों का ही ग्रहण करते हैं लेकिन यहां जिन यज्ञों का महर्षि ने ग्रहण किया उसमें विज्ञान आदि यज्ञ ये विशेषण जोड़ दिया अर्थात हमारे जितने भी परोपकार आदि कर्म हैं वो भी विज्ञान को प्राप्त कराने वाले हों और स्वयं विज्ञान की प्राप्ति शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हमें हो सके इससे संबंधित कर्म हमें करने होते हैं और वो अनंत करने होते हैं लंबे काल तक करने होते हैं क्योंकि अविद्या के संस्कार जन्म जन्मांतर के बहुत गहरे बैठे रहते हैं थोड़ा ठीक करते हैं फिर नीचे से पीछे से कोई उभर के आ जाता है फिर ठीक करते हैं फिर उभर के आता है लंबे काल तक ज्ञान को शुद्ध करना होता है क्योंकि लंबे काल तक हम अविद्या को पुष्ट करते रहे हैं अविद्या को अज्ञान को विज्ञान से विपरीत बातों को हम पुष्ट करते रहें ऐसे संस्कार बना रखें इसलिए हमें अनंत विज्ञान आदि यज्ञ करने होंगे तो महर्षि लिखते हैं आप असंख्यात विज्ञान आदि यज्ञों से प्राप्य हो तो ऐसे उस परमात्मा को संबोधित किया जा रहा है वो आर्य परमात्मा को शतक क्रतु मान रहा है और परमात्मा इन कर्मों से प्राप्त होने योग्य है ये भी उसे पता है ये स्वीकार कर लिया है अब वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है हे प्रभु सह इमम कामम न प्रेणा स भगवान वे आप परमात्मा कौन से परमात्मा जो आप शतक्रतु हैं ऐसे आप परमात्मा स भगवान न हमारे कामम कामना को आकृणा पूर्ण कर दो हमारी कौन सी कामना है न इमम कामम आकृणा हमारी इस कामना को पूरा कर दो वो कामना कौन सी है वो मंत्र में सीधे नहीं कही गई है मंत्र में आगे जो कहा गया गो भी रश्वई ही गाय आदि प्राणियों से और अश्वादि प्राणियों से तो ये तो साधनों का कथन है इस मंत्र में गाय आदि की और अश्व आदि की प्राप्ति की प्रार्थना सीधे सीधे नहीं की गई है परोक्ष रूप से ये भी आएंगे गाय के भी बहुत से अर्थ हैं एक तो गाय प्राणी होता है जिससे हमें दूध प्राप्त होता है अन्नादि उत्पादन के लिए बैल प्राप्त होते हैं गोबर प्राप्त होते हैं अर्थात जिनसे हमें कुछ प्राप्ति होती है उनका प्रतीक ये गाय है इंद्रियों को भी गो कहा जाता है पृथ्वी को भी गो कहा जाता है किरणों को भी गो कहा जाता है ज्ञान को भी गो कहा जाता है विद्या को प्रकाश को मशीन ने अनेक अर्थ किए हैं तो ये चीजें हमें प्राप्त हो और इनके द्वारा हमारी कामना पूर्ण हो जाए ये प्रार्थना हम परमात्मा से कर रहे हैं ये चीजें परमात्मा ने दे रखी हैं इंद्रिया प्रकाश भूमि ये हमें प्राप्त है इस पृथ्वी पर ये सब साधन उपलब्ध हो चुके हैं इन साधनों को स्मरण करते हुए इनको माध्यम बनाते हुए परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है हे परमात्मा इनके माध्यम से हमारी ये कामना पूर्ण पूर्ण हो जाए तो ये कौन सी कामना इमम कामम न इमम कामम आप्रणा हमारी इस कामना को पूरा कर दो वो कामना इस मंत्र में कही नहीं गई है इस सूक्त में ये अंतिम मंत्र है सोलहवें सूक्त का ये नवा मंत्र है इसके पहले आठ मंत्र और आए हैं और उनमें अनेक कामनाएं लिखी गई हैं उनमें दो मुख्य हैं एक है सोमपान सोमपान हमारे आनंद के लिए हमारे सुख के लिए तो जैसे गाय का दुग्ध पीते हैं वो भी एक तरह का सोमपान है परमात्मा के आनंद का उपभोग करते हैं वो अंतिम सोमपान है अंतिम सुख का पान है तो सांसारिक साधनों को जो जिनसे हमारा जीवन पुष्ट होता है चलता है उनकी प्राप्ति और अंतिम सोम की प्राप्ति परमात्मा की परमात्मा के आनंद की प्राप्ति ये सोमपान तो हमारी इस कामना को इनके माध्यम से पूरा करो तो सोमपान का संबंध गाय आदि से हो गया गौ से हो गया और एक कामना वहां पर गमनागमन की है महर्षि ने वहां अनेक शब्दों से तीव्र वाहनों का विमानों का उल्लेख किया है तो वो गमनागमन अश्व के माध्यम से अश्व भी एक पशु है उसके भी अनेक अर्थ होते हैं लेकिन वो अश्व गमनागमन में कारण बनता है सहायक बनता है साधन बनता है तो दो कामनाएं हमारी एक तो हम आनंद को प्राप्त करें और दूसरा हमारा गमनागमन भली प्रकार से हो सके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके और वो किस लिए क्योंकि हमें यज्ञ करना है क्योंकि हमें असंख्यात कर्म करने हैं क्योंकि हमें विज्ञान आदि यज्ञ करने हैं उसके लिए जो शक्ति ऊर्जा चाहिए साधन चाहिए वो गो शब्द से गृहित हुआ और हमें इसके लिए विश्व में कहीं भी आना जाना पड़ सकता है गमनागमन हमें करना आवश्यक है सर्वत्र विद्वान उपलब्ध नहीं होते हैं इसलिए हमें अश्व की गमनागमन के साधनों की भी आवश्यकता है तो ये साधन आपने दे रखे हैं और ये उपाय भी दे रखे हैं जिससे हम इनको और अच्छे से अच्छा उपलब्ध कर सकते हैं बना सकते हैं जैसे कि आज का विज्ञान भी इस लिए कार्यरत है और हम उन साधनों का उपयोग करते हैं इन साधनों को और अच्छा अच्छा हम अपने पुरुषार्थ से बना रहे हैं आपने उपलब्ध कराए हैं लेकिन प्रार्थना क्या है कि हे प्रभु गोभी इन गो अश्वादी के माध्यम से न हमारी इमम कामम आप्रण इस कामना को पूर्ण कर दो यदि परमात्मा सीधे ही हमें अपना आनंद दे देता तो भी हमारी इस कामना को पूर्ण कर सकता था सीधे हमें मुक्ति दे देता वो प्रार्थना नहीं की गई है यहां पर यहां गोभी रश्वई ही गो अश्वादि के माध्यम से हम इस कामना को पूर्ण कर सकें आप उसे पूर्ण कीजिए साधन भी परमात्मा ने दे दिए यदि साधन न दिए होते तो हम इस कामना को साधनों के साथ जोड़ देते कि हे परमात्मा आप इन साधनों को दे दीजिए ताकि हम आपको प्राप्त कर सकें लेकिन जिस तरह की प्रार्थना यहां पर है हमारे पास ये साधन है और अब परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हम इनके माध्यम से अपनी कामना को पूर्ण कर सकें ऐसा आप कीजिए तो परमात्मा को क्या करना शेष है परमात्मा क्या करे कि हम इन साधनों के माध्यम से अपनी इस कामना को सुख की प्राप्ति की कामना को पूर्ण कर सकें तो यहां परमात्मा की प्रेरणा सतज्ञान की कामना हमें प्रतीत होती है इन साधनों के रहते यदि परमात्मा के माध्यम से वेद के माध्यम से हमें ठीक ठीक ज्ञान उपलब्ध हो गया तो हम इन साधनों का ऐसा उपयोग करेंगे कि ये हमें हमारी कामनाओं की उस मोक्ष सुख की कामना की पूर्ति में सहायक हो जाएंगे और यही परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है स इमम न कामम आप्रणा गोभीर अश्वई शतक्रत और इसके लिए हमें क्या करना है परमात्मा से ज्ञान की कामना है प्रेरणा की कामना है लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना होगा तो अगली पंक्ति में कहा स्तवाम त्वा स्वाध्य हे शतक्रतो परमात्मा त्वा त्वाम तुझे स्तवामा हम स्तुति करें आपकी प्रशंसा करें आपका यशोगान करें तो परमात्मा के यशोगान से क्या होगा तो स्तुति से प्रीति और प्रीति से उसके उसकी आज्ञाओं के पालन में तत्परता ये हमें प्राप्त होगी लेकिन परमात्मा की स्तुति तो बहुत लोग करते हैं भिन्न भिन्न रूप में करते हैं अतिशय भावना से युक्त होकर के श्रद्धा तिरेक में बहुत बड़ी बड़ी स्तुतियां कर देते हैं ऐसी स्तुतियां कर देते हैं जैसी कि परमात्मा के लिए संभव ही नहीं है परमात्मा की वो प्रशंसा करना ही नहीं बनता क्योंकि परमात्मा वैसा करता ही नहीं है कोई व्यक्ति परमात्मा को ये स्तुति करे हे परमात्मा आप तो समस्त दुष्टों के रक्षक हो और उनके सब पापों के नाशक हो पाप अर्थात पिछले किए हुए कर्म अभी मैं दुष्ट ही हूं दुष्ट कर्म को करता जा रहा हूं और परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूं हे परमात्मा आप महान हैं आप मेरे समस्त कर्माशय को पाप को नष्ट कर देंगे आप दयालु हैं अब ये जो स्तुति की जा रही है ये श्रद्धातिरेक में सीधे शब्दों में कहें तो ये मिथ्या ज्ञान से युक्त वास्तव में अश्रद्धा है गलत ढंग से स्तुति की जाती है तो ऐसा भी बहुत होता है इसलिए केवल वेद मंत्र में ये नहीं कहा स्तवा त्वा आपकी स्तुति करें उसके लिए एक विशेषण दिया स्वाध्य सु अच्छी प्रकार से आ समन्ता चारों ओर से पूरी तरह से ध्य ध्यान करने वाले हम जो भली प्रकार से आपका चिंतन करते हैं भली प्रकार से चिंतन करते हुए हम आपकी स्तुति करें और महर्षि ने इसके लिए खोला सुबुद्धि युक्त होके उत्तम प्रकार से आपका स्तवन स्तुति करें तो सुबुद्धि युक्त ये महर्षि ने लिखा ये स्वाध्याय शब्द के आधार पर कहा इससे हम अर्थापत्ति लगा सकते हैं कि दुर्बुद्धि युक्त होकर के भी परमात्मा की स्तुति की जा सकती है लोग करते हैं ये बुद्धि रहित हो करके बुद्धि का उपयोग ठीक तरह न करते हुए भी स्तुतियां की जा सकती हैं और वो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा की अच्छी स्तुति करने वाला समझ सकते हैं परमात्मा की ऐसी स्तुतियां परमात्मा को प्राप्त कराने वाली नहीं होती हैं क्योंकि गलत स्तुति की परमात्मा के गलत स्वरूप को समझा तो उसके अनुरूप ही हम फिर निश्चिंत होकर के चलते हैं परमात्मा पापों को माफ कर देगा इत्यादि तो परमात्मा की स्तुति हम सम्यक बुद्धि से युक्त होकर के करें और ऐसा करते हुए परमात्मा से प्रीति हमारी बढ़ती जाए और परमात्मा के द्वारा दिए गई प्रेरणा के अनुसार हम विभिन्न साधनों का उपयोग करें जिससे कि हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति का और कामनाओं की पूर्ति का एक सूत्र छोटा सा सूत्र लेकिन एक दृष्टि से देखें तो परिपूर्ण सूत्र यहां पर दिया गया महर्षि इसके लिए बड़ी उच्च भावना के साथ दिखते हैं हमको दृढ़ निश्चय है ये आर्य को निश्चय है कि आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता स्पष्ट रूप से निषेध कर दिया आपके बिना दूसरा कोई किसी का किसी का भी काम पूर्ण नहीं कर सकता ये वाक्य अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है अगर सीधे सीधे हम इन शब्दों को देखें तो तात्पर्य यही आता है कि परमात्मा ही सबके कामों को पूरा करता है और कोई नहीं लेकिन हम व्यवहार में जब देखते हैं तो हमारे बहुत से कार्यों को अन्य लोग पूर्ण करते हैं अन्य मनुष्य पूर्ण करते हैं पशु पूर्ण करते हैं हम स्वयं भी अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं हम भी दूसरों के कार्यों को पूर्ण करवाते हैं ये हमें प्रतीति होती है तो क्या हम ये माने जितने भी हमारे काम पूर्ण हो रहे हैं वो सब परमात्मा ही करवा रहा है हम जिनके कामों को पूर्ण कर रहे हैं वो परमात्मा ही कर रहा है तो उस स्थिति में हमारा या अन्य मनुष्यों का कर्तृत्व वहां कुछ भी नहीं रहेगा और उनका कोई कर्तृत्व नहीं रहेगा तो कर्मफल व्यवस्था भी नहीं रहेगी कर्म की स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी तो इसलिए अगर ये अर्थ लेने लगे कि परमात्मा ही सारे कार्यों को पूर्ण करता है तो मन में संशय पैदा हो जाएगा लेकिन वाक्य लिखा है वाक्य तो किसी तरह ठीक ही होना चाहिए इस वाक्य का जो प्राथमिक अर्थ लेते हैं वो हमें विपरीत प्रतीत होगा वर्तमान से भिन्न प्रतीत होगा हाँ जो केवल भावना में रहते हैं कल्पना में रहते हैं वो इस वाक्य को भी ठीक मानेंगे और दूसरों का सहयोग लेते रहेंगे देते रहेंगे उसको भी मानेंगे उन्हें उसमें कोई विरोध प्रतीत नहीं होगा क्योंकि ये भावना अलग रखते हैं व्यवहार को अलग रखते हैं लेकिन हमें विज्ञान आदि यज्ञ को करना है ये यज्ञ विज्ञान से युक्त होंगे ज्ञान से युक्त होंगे तो दोनों की तुलना करते ही वहां पर प्रश्न उठेगा कि महर्षि का ये वचन कैसे ठीक हो सकता है तो उसका एक अर्थ एक संगति ये लगाते हैं कि अन्य मनुष्य जो हमारे कार्यों को पूर्ण करते हैं वो परमात्मा की सहायता से करते हैं वो अकेले नहीं करते तो इसलिए परोक्ष रूप से परमात्मा ही हमारे कार्यों को पूर्ण करने वाला है और हम भी जो दूसरों का सहयोग करते हैं वो परमात्मा की सहायता को प्राप्त करके करते हैं ये एक मध्य का उत्तर है लेकिन इसमें फिर भी तर्क उठ सकता है कि जो दूसरे व्यक्ति हमारा अहित करते हैं उसमें भी तो परमात्मा का परोक्ष रूप से सहयोग रहता है कि उसने शरीर आदि दे रखे जैसे हम सहयोग में परमात्मा को मान लेते हैं कि उसने ही जल वायु आदि साधनों को दे रखा है इसलिए ये व्यक्ति मेरा सहयोग कर पा रहा है तो ये बात दुष्ट कर्मों में असहयोग में हानि में भी फिर उसी तरह से लगने लगेगी कि ये जो दूसरे व्यक्ति मेरी हानि कर रहे हैं ये परमात्मा के दिए हुए जलवायु का उपयोग करके कर रहे हैं बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करके कर रहे हैं तो क्या हम यहां भी परमात्मा को मान लें कि परमात्मा के सहयोग से ही पूरे कर्म हो पा रहे हैं लेकिन एक धार्मिक ईश्वर भक्त को यह स्वीकार नहीं होता है तो ये जो उत्तर है ये बीच का उत्तर है ये आंशिक उत्तर है ये पूर्ण संतुष्टि कारक नहीं हो सकता तो महर्षि का तात्पर्य हमें और आगे जाकर के देखना होगा या तो हम यहां पर एक मात्र शब्द लगा लें नीचे जो एक वाक्य है आपको छोड़ के दूसरे का ध्यान व याचना जो करते हैं उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं तो पहला जो वाक्य है आपके बिना दूसरा कोई अर्थात बिना आपके दूसरा कोई स्वतंत्र रूप से हमारा उपकार नहीं कर सकता आप यदि नहीं हो तो दूसरा कोई हमारा उपकार नहीं कर सकता आपके होते हुए दूसरे हमारा उपकार कर सकते हैं ये जो मैंने एक बीच वाला अर्थ बताया था उसकी संगति इन वाक्यों से ऐसे मिलेगी इस वाक्य का एक अर्थ होता है कि आपके बिना दूसरा कोई किसी का काम पूर्ण नहीं कर सकता अर्थात आप ही सबके काम पूर्ण करते हैं दूसरा तो कोई कुछ करता ही नहीं है एक ये अर्थ है एक है कि आपके बिना दूसरा नहीं कर सकता यानी आपके होने पर ही आपके सहयोग के होने पर ही दूसरे हमारा काम पूर्ण करते हैं एक वाक्य का दूसरा अर्थ है ये बीच वाला अर्थ है लेकिन अगर ये लें कि आपके बिना दूसरा नहीं करता आप ही पूर्ण करते हैं तो उसमें पहले वाली आपत्ति आती है कि दूसरे भी हमारे कामों को पूर्ण करते हुए दिखते हैं पर मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य का स्मरण करें मुक्ति की दृष्टि से तो परमात्मा ही हमारे सब कामों को यानी मुक्ति के काम को पूर्ण करता है दूसरा कोई नहीं कर सकता और संसार के जिन कामों को हम कर रहे हैं सहयोग ले रहे हैं यदि केवल उनके अनुसार ही हम चलेंगे उनसे जो सहयोग प्राप्त करेंगे तो हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते परमात्मा को छोड़ करके केवल दूसरों के माध्यम से दूसरों का सहयोग लेके हम चलेंगे दूसरों का ज्ञान दूसरों का सहयोग तो मुक्ति तक पहुंचाने वाला नहीं होगा परमात्मा को साथ में रखते हुए जब दूसरों का सहयोग लेंगे कार्यों को पूर्ण करेंगे तब ही हमारे सब काम पूर्ण होंगे यदि दूसरे का सहयोग करके दूसरों का सहयोग लेके किसी ने जुआ घर बना लिया उसे प्रतीति होगी मेरा काम इन इन लोगों से पूर्ण हुआ इन लो, लोगों ने सहायता की लेकिन उस जुए को जुआ घर को बना के जुआ को चला करके जो पाप का संग्रह कर लिया तो कहा काम पूर्ण हुआ काम पूर्ण तो तब होता है जब उससे हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए जो हमारी अंतिम इच्छा है वो जब पूर्ण होगी तब ही उस काम को पूरा माना जाएगा नहीं तो ये कहा काम पूर्ण हुआ ये तो और कचरा फैला लिया हमने जुआ घर को चला करके हम सोच रहे हैं काम पूर्ण हो गया हम सोच रहे हैं कि धन आ गया काम पूर्ण हो गया लेकिन ये काम पूर्ण हुआ ही नहीं है हमारी जो अंतिम कामना है वो तभी पूर्ण होगी जब मुक्ति की प्राप्ति होगी और वो तभी हो सकती है जब परमात्मा भी साथ में हो बिना परमात्मा के ये सब नहीं हो सकता इसलिए महर्षि लिखते हैं आपको छोड़ के दूसरे का ध्यान व याचना जो करते हैं उनके सब काम नष्ट हो जाते हैं इस पंक्ति के भी फिर उसी तरह से दो अर्थ कि आपको छोड़ करके जो मात्र अन्यों का सहारा लेते हैं ऐसे लोगों का जिन्होंने आपको छोड़ रखा है मैंने भी आपको छोड़ दिया और जिनकी सहायता ले रहे हैं उन्होंने भी आपको छोड़ रखा है तो कितना भी कुछ होता रहे वो काम हमारे वास्तव में नष्ट ही होने वाले हैं परमात्मा की प्राप्ति न होने से वो सब कामों का नष्ट होना ही समझना चाहिए यदि परमात्मा को साथ में लेकर के बिना छोड़े फिर अन्यों का दूसरों का ध्यान या याचना करते हैं तो उतने अंशों में हमारी पूर्ति होगी लेकिन जैसे योगी या अंतिम पुरुष होते हैं वो अंततः परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं परमात्मा को ही मुक्ति का दाता समझते हैं और ऐसा ही आर्यों को समझना चाहिए ये महर्षि ने अभिप्राय लिखा है इस मंत्र का देवता इंद्र है जो कि शतक्रतु नाम से कहा गया और इसका ऋषि कर्णव मेधातिथि है वेद की शाखा एक कर्णव है उस कर्णव शाखा से जो युक्त है वो कर्णव है ऋषि का नाम कर्णव प्रसिद्ध है और कर्णव शब्द में गति अर्थ वाली धातु लेते हुए जब हम अर्थ करते हैं तो जो चलने वाला होता है करने वाला होता है कणति चेष्टते असो तो जो गतिशील है क्रियाशील है क्योंकि यहां शतक ऋतु को कहा गया उसको संबोधित किया गया असंख्यात यज्ञों के कर्म की बात आई तो ये काणव बन जाता है कर्ण से संबंधित कर्म से युक्त बन जाता है और मेधातिथि मेधा और अतिथि को जोड़ करके बनाते हैं तो मेधा है अतिथि जिसकी उसको वो मेधा को इतना सम्मान देता है जैसे कि अतिथि को देता है उसको आदर से देखता है अतिथि जो विद्वान होता है जैसे हम विद्वान अतिथि की कामना करते हैं जिससे ज्ञान प्राप्त करके हम अपने रास्ते पे चलते हैं ऐसे वो अपनी मेधा को भी अतिथि के रूप में देखता है जो धारणावती बुद्धि है उसको अतिथि के रूप में देखता है इस मेधा के अनुसार मुझे चलना है ऐसा वो बन जाता है और क्रियाशील बन जाता है कारण व मेधातिथि तो मंत्र की भावना रखते हुए कुंभ का उच्चारण करेंगे ओ